ए हमारे रब जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जबानी किया है हमें वो अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रसवा न करना बिलाशुबा तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता